एक दूसरे का जिसमें अभाव है घट पट नहीं पट घट नहीं तो वो मिथ्या वस्तु है और जो समय अन्वित है वही सत्य वस्तु है ये जिज्ञासु को यही जानना है हम समापिष्ट हो सर्वेण समाधना भगवान कल्प विकल्प न विमूयत कर उचित भगवान ने कहा ब्रह्मा जी बस मेरे सिद्धांत को बस निश्चित कर लो समाहित होकर के इसको धारण रखो तुम्हें कभी भी मोह नहीं होगा हे भगवान बस इसी श्लोक को लेकर के बल्लभाचारी जो है जो ब्रह्मा जी को मोह हुआ है उसको नहीं मान के सकता है तो भगवान को जब वर दे चुके हैं कि तुम्हें कभी मोह नहीं होगा तो ब्रह्मा का जो मोह आता है दसम स्कंध में उसको नहीं मानते प्रक्षेप मानते इस तरह से और स्वर्ग का वर्णन किया जिसमें सर्ग विसर्ग का वर्णन है ये अत्र सर्गो विसर्ग से स्थानम पोषण मूतया मनमंतरी शान कथा निरोधो मुक्त राष्ट्र ये दस लक्षण है पुराण सर्ग का वर्णन विसर्ग का वर्णन स्थान पोषण रुचि आदि का वर्णन स्वर्ग का वर्णन क्या है ये पंच महाभूत और इंद्रियादिकों का जो जन्म है ये सर्ग है और ब्रह्मा जी को जी, जी की जो सृष्टि है वो सर्ग है प्राकृत जो सृष्टि है वो सर्ग है भगवान का जो है सबको अपनी अपनी मर्यादा में रखकर रखना जो है बस ये जो स्थिति है किसी इसी को कहते हैं स्थान अत विसर्ग से स्थानम भगवतो विजयत्व स्थित स्थान भगवान की महिमा सूचित होती है ना इससे जितनी भी वस्तु है सबको अपनी मर्यादा में रखना एक बार बरेली में एक व्यक्ति ने कहा हमसे महाराज ये सूर्य भगवान जिस स्थान पे है जितनी दूरी पे है अगर ये थोड़ा नीचे आ जाए तो इनके ताप को कौन सह सकता हम लोग उस इतनी गर्मी नहीं सह सकते कोई जीवित नहीं रह सकता जहां भगवान सूर्यमंडल जहां है थोड़ा नीचे को आ जाए तो क्या दशा होगी कोई जीवित रह सकता और कहते हैं वहां से कोई ऊंचे चले जाए तो ये हिमालय की बर्फ यहां गिर यहां बर्फ कम लग मेरी बात बिल्कुल ठीक है इसलिए भगवान जो चीज जहां है वहां की वहां मर्यादा में वहीं रखें सूर्यमंडल जहां है वहां का वहीं है भूमंडल जहां है वहां का वहीं है चंद्रमंडल जहां है वहां का वहीं है सबको अपनी मर्यादा में स्थित रखना ये इसी का नाम स्थान है इससे भगवान भगवान की महिमा व्यतीत होती है स्थित व्याकुल हो जाए पोषण कदम रहा भक्तों को जो अनुभव है उनका पोषण है ये मनमंत्र जो है ये सब धर्म है कर्मों की वासना इनको उसी कहते हैं भक्तों के चरित्र हैं और ये जो है ये कथा बीस कथा है और जो है भगवान जब लेकर के सबको और नेत्र बंद करके जो ग्राम स्थित होते हैं तो यही उनका जो है निरोध उसको निरोध कहते हैं संसार को जब लीन करके ये निद्रा स्थित हो जाते हैं और मुक्ति क्या है मुक्त रहता अन्यथा रूपम स्वरूप व्यवस्थित अन्यथा रूप को छोड़ दो बस अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ यही मुक्ति जो <clears throat> अनात्म वस्तु में जो अभ्यास कर रखा है वो धीरे धीरे अलग करो तो, शरीर इंद्री मन बुद्धि चित्त में से, से अलग होकर के बस आत्मा अपने जब स्वरूप में स्थित होता है उसी को मुक्ति कहते हैं और मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं मुक्त विश्वास अनुसार स्वरूपेण व्यवस्थिति हम्म। आश्रय जिसको कहते हैं कि सृष्टि निरोध का जो प्रकाशक है जहां से सृष्टि उत्पत्ति और लय होते हैं वो परब्रह्म का नाम आश्रय इस तरह से ये वर्णन किया द्वितीय स्तंभ भी समाप्त बोलिए श्री कृष्ण आज तो थोड़ा हम्म, हम साढ़े तीन से आरंभ किया ना तो कल से तीन बजे से ही आरंभ किया करेंगे ऐसे ही बताया हमको ध्यान था साढ़े तीन बजे से होंगे उनका खर्चा और सुखदेव जी कहते हैं राजन बिदुर जी जब तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए और उन्होंने नेत्रियम प्रति पृष्ठवान तुम जो हमसे प्रश्न कर रहे हो ये ऐसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रे से किए कौन विदुर जी कि देखो स्वयं विदुर जी वो विदुर जी है कि भगवान श्री कृष्ण जब दूध बन करके गए थे तो बिना बुलाए विदुर के घर चले गए और दुर्योधन ने आग्रह भी किया तो वहां दुर्योधन की आग्रह दुर्योधन ने बड़ा प्रबंध किया था भगवान के स्वागत के बड़े बड़े प्रबंध किए थे नानक भगवान आ रहे हैं कि किसी तरह से पिघल जाए हमारे पक्ष में हो जाए श्री कृष्ण ने बड़ा उद्योग किया था भगवान को आमंत्रित किया महाराज हमारे यहां भोजन कीजिए भगवान ने कहा देख भोजन होता है दो तरह से संपीत भोज्ञान अन्यानी आपद भोज्ञान वापना भोजन दो तरह से किया जाता है या तो अपना प्रेमी हो भक्त हो तो उसके लिए उसके यहां भोजन किया जाता आपद हो जान या हमारे ऊपर कैसे ऐसी कोई आपत्ति हो तो हमें कहीं भोजन नहीं मिलता है तो ऐसे के हम कर लिया जाता है जो प्रेमी नहीं है तो इसलिए राजन नक्षम तो प्रिय से राजन तो हमारे तो तुम प्रेमी नहीं हो हाँ? और हमारे ऊपर ऐसी कोई आपत्ति नहीं है कि हमें कहीं भोजन नहीं मिलता इसलिए आपके यहां भोजन नहीं करता बुजुर्ग जी के ना चले गए और वहां से भगवान ने बुजुर्ग किया कोई तो सारवाद की बात तो और यह महाभारत में तो बड़े खास थे बुजुर्ग जी कोई सारा तो थे बड़े भगवान का बड़े खास से भोजनाथ हुआ वहां तो ये कहते हैं खाना हूं तो भी ग्रहण अधिवेश बिना बुलाए बुजुर्ग जी के यहां चले गए परीक्षित ने कहा महाराज विदुर और मैत्री का जो समागम हुआ और उनका जो संवाद हुआ वो किस जगह हुआ तो उसका मैं उसे सुनना चाहता हूं विदुर जी ने जो मैत्री से प्रश्न किए होंगे वो कोई साधारण प्रश्न नहीं होंगे इसलिए सूर्य जी कहने राजा ऋषि हो जब सुखदेव जी से ये प्रश्न किया परीक्षित ने तो सुखदेव जी बोले कि राजन सुनो भाग्य की कथा धुतराष्ट्र जब अपने पुत्रों का पक्ष लेने लगा सभा में द्रौपदी का अपमान किया और बारह वर्ष वनवास व्यतीत करके पांडव लोग जब आए और अपना भाग या राज्य मांगने लगे तो नहीं जब दिया जब भगवान भी दूत बन के गए भगवान ने जो उनसे वाक्य कहे उनको धतराष्ट्र ने नहीं माना तब उस समय बुजुर्ग जी को धतराष्ट्र ने विचार करने के लिए बुलाया अब निश्चय हो गया युद्ध होना दुर्योधन ने कहा हम बिना युद्ध के नहीं कुछ देंगे लड़ना है कोई तो युद्ध कुछ लेना है तो युद्ध करो सूर्य किरण राष्ट्राम बिना युद्ध नहीं सकते तब बुजुर्ग जी को जब बुलाया और तो उसमें धृतराष्ट्र से उनकी बातचीत हुई जो बातचीत हुई है उसी को बुजुर्ग नीति के नाम से कहा जाता है बुजुर्ग ने जो बात समझाई है उसको बुजुर्ग नीति कहते राष्ट्र को रोग होकर हो गया रात को तो निद्रा नहीं आती तो ज्यादा रोग हो गए बुद्ध जी ने कहा राष्ट्र के हे बंधु तुम्हारे अपराध को ये पांडव लोग सहन कर रहे हैं उचित यह है कि इनका विभाग इनका भाग उनको दे देते भीमसेन रूपी सर्प लंबी लंबी सांस ले रहा है क्रोध में भरा हुआ है और पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने अपना लिया है भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में रहते हैं जिसको तुम अपना पुत्र समझते हो हितेशी समझते हो वो श्री कृष्ण का द्वेषी है ये दुर्योधन अगर तुम अपने कुल की कुशलता चाहते हो तो इस दुर्योधन का त्याग कर दो तो विदुर जी ने धुतराष्ट्र को समझाया तो वहां दुशासन बैठे थे कर्ण था दुर्योधन था दुर्योधन क्रोध में बढ़ करके उसके खड़ा हुआ अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया जिनका अन्न खा करके ये पुष्ट हो रहा है उसी के प्रतिकूल आचरण कर रहा है अतः पुरात शीघ्र निष्कासता यहां से इस विदुर को शीघ्र ही निकाल दो तो दुर्योधन ने खड़ा होकर की ये बात कही और धृतराष्ट्र चुप रहे उन्होंने कुछ नहीं कहा अरे तू क्या बोल रहा है दुर्योधन को डाटा नहीं उस समय जो है विदुर जी अपना धनुष बस दरवाजे पर रख करके सभा द्वारी धनुर्धाय निर्धार सभा के दरवाजे पर अपना धनुष बाण रख करके और निकल गए और वो तीर्थों में भ्रमण करने के लिए चले गए प्रत्येक तीर्थ में जाते पृथ्वी का शयन करते थे अवधूत वेशा उनको कोई पहचान नहीं सकता था कि विरोधी है भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत करते थे एकादशी आदि को भारतवर्ष में भ्रमण करते करते जब तक वो प्रभाष क्षेत्र में पहुंचे तो वहां जाकर के उन्होंने ये सुन लिया कि कौरव पांडवों का युद्ध हो गया अठारह अक्षणी सेना मारी गई इस समय महाराजा युधिष्ठिर राज्य कर रहे हैं थोड़े दिन में ही हाँ। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी और कर कल्याण अखिल गया बुजुर्ग जी का जो तिरस्कार हुआ तो उसका तत्काल ही फल मिला इसके अनंतर वो सरस्वती नदी के किनारे आए और ऐसे मंदिरों का दर्शन किया जिनका दर्शन करके भगवान का स्मरण होता था और फिर इस तरह से भ्रमण करते करते यमुनाम प्राप्त यमुना किनारे आए और वहां उद्धव जी को देखा उद्धव उद्धव को हृदय से लगाया यादवों की कुशल प्रश्न पूछे और कहने लगे विदु जी हे उद्धव ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का धारण करने के लिए भगवान जो होते हुए वो कुशल जी होते हैं का कुशल मंगल पूछा नाम ले लेकर के उद्धव जी महाराजा युधिष्ठिर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन तो करते हैं ना हे सौम्य देवोद्धव अधपतंतम धृतराष्ट्रम सोचे मैं तो धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूं जिसमें पांडव द्रोह भगवा जो अपने भाई पांडु से द्रोह जिसने किया जिसने मैं हमको नगरी से निकाल दिया सोहम हरे प्रसादा तन महात्म्यम पश्यन भूतले ग्रह गुरसन विचरा अतो हे सखे तीर्थ तीर्थे भगवतो वार्ता भगवान श्री कृष्ण की चर्चा सुनाओ ये विदुर जी ने उद्धव जी से कहा उद्धव जी से जब ये बात कही तो उद्धव को भगवान का स्मरण हुआ और वो उनके शरीर में रोमांच हो गए वो मौन हो गए नेत्र बंद कर लिए प्रेम के आंसू उनकी आंखों से निकलने लगे विदुर जी ने वो दल की ये दशा देखी तो कृतार्थ लक्ष्य का विदुर जी ने सोचा कि ये तो कृतकृत हो गए ये तो भगवान के परम सकते हैं भगवान की प्रेम में लीन धीरे धीरे भगवत ध्याना संधान प्राप्त फिर उनको देहान संधान हुआ उद्धव जी को और फिर विदुर जी से बोले और जो विदुर जी ने प्रश्न किए थे उन सब कुछ तो सुनाया कौरव पांडवों का युद्ध यादवों का आपस में उनको जो साप लगना और परस्पर जो लड़ करके नष्ट हो जाना ये सारी चर्चा विदुर जी को उद्धव जी ने सुनाया जब विदुर जी ने उद्धव जी से अपने सुहृदों के बद का जब इतना बड़ा विनाश उन्होंने सुना तो उत्पतन शोकम ज्ञाने में समयामास बड़ा भाई उनको दुख हुआ शोक हुआ तो विचार से उसे शांत कर जो दुख होता है क्लेश होता है शोक होता है वो तो विचार से ही शांत किया जाता है फिर बुजुर्ग जी ने कहा अरे उद्धव भगवान श्री कृष्ण ने चलते समय तुमको जो उपदेश किया वो तो ज्ञान का उस ज्ञान का उपदेश हमको भी करो उद्धव जी ने कहा महाराज जब भगवान श्री कृष्ण धरातल को छोड़कर के वैकुंठ जा रहे थे उस समय उन्होंने मैत्री ऋषि को कहा है कि बुद्ध जी के लिए उपदेश करना है आपको उपदेश करने के लिए मैत्री को तो आज्ञा दे रहे वो आपको उपदेश करेंगे मैत्री जब विदुर जी ने यह सुना कि भगवान ने वैकुंठ जाते समय मेरा स्मरण किया और हमको उपदेश करने के लिए मैत्रेय से कह गए हैं तो विदुर जी गर्गत परीक्षित ने कहा महाराज जब यादवों को साप लग गया था तो यादवों में उद्धव जी भी तो थे फिर ये कैसे बच गए कहते हैं ये तो भगवान का संकल्प ने कहा कि मेरे मेरे से कुछ भी नींद नहीं है ये अवस्था विजय की कथा आप सुनी है महाभारत में एक कीटोपाख्यान आता है कीटोपाख्यान कीड़े की कथा तो उसकी क्या कथा आती है व्यास जी एक दिन जा रहे थे उधर से एक कीड़ा भागा हुआ जहां गाड़ियां चलती रहती हैं तो ये लीक बन जाती है उसमें से कीड़ा भागा हुआ व्यास जी ने कहा अरे तू कहां भागा जाता क्यों दौड़ा था क्या आपत्ति महाराज आपको पीछे नहीं देख रहे रथ आ रहा है और मैं इसके अगर नीचे आ, आ गया तो मैं मर जाऊ व्यास जी ने कहा तू भी मरने से डरना है तो, तो कीड़े का शरीर छूट जाएगा और मिल जाएगा कि महाराज शरीर तो सबका ही पंचभूतों का है तो ये तो आत्माध्यास से प्रिय लगता है आपका जो जिन धातुओं से मनुष्य का शरीर बनता है उसी से कीड़े का बनता है तो इसमें तो प्रियता तो अध्यास से है तो व्यास जी से ऐसी बातचीत हो रही थी इतनी देर में वो गाड़ी आ गई रथ आ गया और उसके नीचे पिछ मर गया पर मरने के समय व्यास जी से जो बातचीत हुई उसके प्रभाव से वो मनुष्य योनि में आया और शूद्र योनि में शूद्र बना उसको स्मरण रहा कि व्यास जी से कृपा से हम मनुष्य योनि में आए व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया उन्होंने राम मंत्र का उपदेश कर दिया कि तुम इसी तरह से राम मंत्र का जप करो फिर वो वैश्य बना फिर व्यास जी का शिष्य बन गया फिर वो क्षत्रिय बना फिर व्यास जी के पास पहुंच गया फिर ब्राह्मण बना जब आठ दस वर्ष का हुआ तो उसके सारे शरीर में कोड़ हो गया पुष्ट हो चलने फिरने में भी उपष्ट हो, हो उसको व्यास जी एक बार उसके पास स्वयं आए बोलो महाराज अरे बोलो क्या दशा है महाराज है तो ब्राह्मण के शरीर मिल गया हमको पर अब हमारी ये दशा है बोलो ये कर्मों का फल भोगना पड़ता तुम्हारे ऐसे कर्म हैं कि जिससे तुमको ये पुष्ट प्राप्त हुआ है चलो तो कोई चिंता मत करो अब तुम अपने शरीर को जाकर के जहां मही नाम की नदी सागर में मिली है मही सागर संगम बड़ौदा से आगे एक मही नाम की नदी गई तो वहां बोलो वहां जाकर के अपने शरीर को त्यागो तो वो ब्राह्मण देवता वहां पहुंचे जहां मही सागर संगम था वहां पहुंच गए तो वहां एक वैश्य बैठा था अनशन करके उनसे बातचीत हुई कि तुम तुम भाई बोलो मैं तो सत्याग्रह करके अनशन करके बैठा हूं क्यों मेरा कोई अपराध नहीं मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किए परंतु मेरे सामने मेरी स्त्री मर गई बच्चे मर गए धन नष्ट हो गया हुँ? हम्म। तो मैं तो अनशन करके शरीर को त्याग लिया आया हूं उस ब्राह्मण ने कहा अरे तेरा ऐसा सुंदर शरीर भगवान ने तुझे भजन करने का अवसर दिया है इससे तू भगवान का ध्यान भजन कर अरे शरीरम नीरुजम चेन में तेरे समान अगर मेरी ये स्वस्थ मेरा शरीर होता नीरोग मेरा शरीर होता तो क्षणे क्षणे से तत्क्रियाम भोग्यते यद युगे तो एक एक क्षण में मैं वो काम कर सकता था जो युग युगों में जिसका फल हो जाता और तो निरोग शरीर प्राप्त करके है मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और तू अनशन करके उसको नष्ट कर रहा ये उसको उपदेश किया तो वैश्य ने उस के चरण पकड़ लिए महाराज आप ही मेरे गुरु बन के आ गए सारे संदेह नष्ट हो गए तो भगवान का ध्यान भजन करने लगे उस ब्राह्मण ने कहा देख जब मेरा ये शरीर छूट जाए तो मेरे शरीर को लेकर के मही सागर संगम में डाल देना बस यही हमारी दुर्दक्षिणा और उन वहां ध्यान भजन करते जब उनका शरीर छूटा वो तो शरीर जो उन्होंने मही सागर संगम में डाल दिया वही फिर मैत्रेय आकर के वो मैत्रेय की कथा ही उपाख्यान ये महाभारत में इसको कीटोपाख्यान कहते आए विदुर जी ने प्रश्न किया महाराज सुखाय कर्माण करो तिलो को न तत्सुखम वाण युद्धपारणम बिंदेत भूय तपेद दुखम महाराज प्रत्येक प्राणी सुख के प्राप्ति के लिए दुख निवृत्ति के लिए कर्म करते हैं हर एक प्राणी जितना भी उसका परिश्रम है वो दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए यह खालू ब्रह्माद स्तंभ पर्यतम सर्वोपि उच्चारक प्राणभुत वर्ग अनिष्ट ज्यासु अभीष्टे सृष्टि भवती नात्र विवाद दर्शन का इसका इसमें किसी को विवाद नहीं है तो प्राणी मात्र की चेष्टा किस लिए है तो सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए ये इसलिए चेष्टा है पर महाराज न तो किसी की किसी की दुख की निवृत्ति होती है और न सुख ही मिलता है हम प्रयत्न करते हैं सुख के लिए और मिलता है दुख ये क्या कारण इसको बताइए आप जैसे भक्त जो हैं प्राणियों पर दया करने के लिए घूमा करते हैं अनुग्रहाये चरंती नूनम भूतानि भव्याण जनार्दन से और फिर ये था मैं ये सुनना चाहता हूं हरि इदम अग्रे यथा ससर्ज भगवान ने सृष्टि को किस तरह से बनाया और अवतार ग्रहण करके वो क्या क्या करते हैं और अपने ही हृदय में हृदयाकाश में संसार को स्थापित करके कैसे वो प्रलय करते हैं विश्व स्थापित निवृत्त वृत्ति सन योग मायाम भगवान कैसे सृष्टि करते हैं कैसे जगत का पालन करते हैं किस तरह से उसे करते हैं ये सब भगवान के चरित्र में सुनना चाहिए तो जब ये प्रश्न किया तो वो मैत्री कहते हैं विदुर जी लोग तो जब भगवान को सृष्टि करनी होती है तो उनकी नाभि से कमल उत्पन्न तो उससे ब्रह्मा जी प्रगट हुए ब्रह्मा जी से मरीची आदि ऋषि प्रगट हुए और मरीची आदि कौन को तो आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने अजय भाई सृष्टि करो सृष्टि करो जब मरीची आदि की सृष्टि करने लगी तो सृष्टि की वृद्धि नहीं होती है तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि सृष्टि की वृद्धि क्यों नहीं हो रही है अहो एक अद्भुतम यद प्रजा न वर्धन थे ये बड़ी आश्चर्य की बात है प्रजा की वृद्धि क्यों नहीं होती इसमें कोई दैवी कोप है ऐसा चिंतन कर रहे थे ऐसा चिंतन करते करते ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए तो उससे दाएं भाग से एक पुरुष प्रकट हुए बाएं भाग से स्त्री प्रकट हुई जो पुरुष हैं उस स्वयं वो मनु थे स्त्री थी वो शत्रुता थी बस उस समय से फिर दोनों के स्त्री पुरुष के सहयोग से सृष्टि होने लगी उनके दो पुत्र थे प्रियव्रत और कांता आपूति देवहूति प्रसूति की उनकी कन्याएं थी <clears throat> मैं तो एक दिन अपनी स्त्री के सहज मनु जी हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से बोले हे भगवान आप हमारे पिता हैं आप हमारे पालन करने वाले हैं अतस्तर शुश्रूषा के न करें हमको क्या करना चाहिए जिससे आपकी सेवा हो क्या करने से आप प्रसन्न होंगे तो भी हम नमः हम आपको प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी बोले बेटा मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं पुत्र ही पितुराज्ञा कर्तव्या यमेव गो पूजा यही पिता का पूजन है कि वो पिता की आज्ञा का पालन करे पुत्रवश हे मनो प्रजा रक्षा में सुशूषण भवे तुम प्रजा की रक्षा करो यही हमारी सेवा है इससे भगवान भी प्रसन्न होते मनु बोले महाराज हम आपकी आज्ञा का पालन तो करें पर आप ये तो देखिए इस समय पृथ्वी तो है ही नहीं हम कहा पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है इसके उद्धार का तो कोई प्रयत्न कीजिए ब्रह्मा जी ने देखा ठीक बात है तदा ब्रह्मा जल मध्य मगनान मही दीक्ष जल को जल में डूबी पृथ्वी को जब देखा ब्रह्मा जी ने तो उनके उद्धार की चिंता करने लगे अहो में क्षित्र जल ही माना सती रसातरंग का पत्र किंग कर सकते हैं क्या करना चाहिए कैसे ब्रह्मा जी जब चिंतन कर ही रहे थे बस तो उनको एक छींक आई है तो उसी समय नासा विवर से नास्ता से अंगूठे की बराबर एक बड़ा हतोक सूकर शावक फट से भी निकल के बाहर <coughs> ब्रह्मा जी ने देखा अरे ये क्या हुआ देखते देखते वो हाथी की बराबर हो गए ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ अरे हमारी नास्ता से निकला है पत्ता भी देखते देखते हाथी के बराबर और ब्रह्मणो मीमान सता ब्रह्मा जी ऐसा विचार ही कर रहे थे भगवान जो है उन्होंने गर्जना की यज्ञो जगर्जो उनकी गर्जना सुन करके संपूर्ण ऋषि महर्षि सब प्रसन्न हुए ऊपर को पूछ उठा करके कंधे के बाबा को उन्होंने हिलाया और स्वयं भगवान जो यज्ञेश्वर जो है और उछल करके और समुद्र में कूद गए समुद्र का जल इधर उधर फैल गया समुद्र भी आर्तनाद करने लगा वो यज्ञेश्वर नाम पारी हे भगवान हमारी रक्षा करो समुद्र का जल पुरों से विदीर्ण करते हुए भगवान रसातल में पहुंचे और वहां जो जल में डूबी हुई पृथ्वी थी अपनी दाढ़ों पर उसको उठा करके और ऊपर लाए पीछे पीछे हाथ में गदा लेकर के हिरण्याक्ष वो पीछे पीछे आया बस भगवान ने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थिर करके आधार शक्ति के द्वारा और फिर से हिरण्याक्ष का बध किया बुद्ध जी कहते हैं महाराज ये कथा में संक्षेप से नहीं सुनना चाहता थोड़ी देर विस्तार से सुनाइए ये किस कारण से उसके साथ युद्ध हुआ हिरण्याक्ष का भगवान ने कैसे मत किया